सरल व्यक्ति का नाम अर्जुन है अर्जुन ये जीव है सरल है जिसने श्री कृष्ण को अपने कर्तव्य का स्वामी बनाया है तस्मा युद्ध स्वभाव प्रेरणा दे रहे हैं कि लड़ो कर्म निर्वाधिकार से योगक्षेम में हम निर्वाह कर रहे हैं फल भी दे रहे हो युद्धस्व देता रणे तपस्नाम मयई वैसे निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सद्य साचिन तुम युद्ध करो तुम्हारा विजय निश्चित है तुम्हारी जीत निश्चित है मैंने पहले ही तुम्हारे दुश्मनों को मार दिया है तुम केवल तस्मात प्रमुख प्रमुख यशो और मेरे मारे हुए को मारो तो यश तुमको मिलेगा यश प्राप्त करो ये बोलते हैं तो ऋजुत्वा अर्जुन ये सखा है श्री कृष्ण का सखा है ये नरक नर का अवतार है इंद्र का अंश है इंद्र का अंश है पांडव है तो अर्जुन के अर्जुन के अनेक रूप हैं वो अर्जुन अर्जुन के अनेक रूप हैं तो अर्जुन को कैसा होना चाहिए तो तुम अपने कर्तव्य कर्म का परित्याग न करो जैसे धनुष भाव अर्जुन के हाथों में है वैसे तुम्हारे द्वारा भी कर्तव्य कर्म का पालन हो इसका एक रहस्य आपको सुनाते हैं रहस्य माने जो तो सबको मालूम नहीं है किसी किसी को मालूम है किसी को नहीं मालूम ये जो अर्जुन का जीव का नर का शरीर है इसमें दो तरह की चीजें हैं एक तो जो मालूम कराते हैं और एक जो कर्म कराते हैं जैसे चलने में काम देता है पांव और देखने में काम देती है आंख तो आंख है ज्ञान प्रधान और पांव है कर्म प्रधान हाथ किसी चीज को पकड़ के लाता है छाती से सता देता है मुंह में ग्रास डाल देता है तो हाथ कर्म है और स्पर्श ज्ञान है और रस ज्ञान है तो ये मनुष्य का जो जीवन है नर का जो जीवन है वो ज्ञान कर्मोभयात्मक है इसमें कर्म भी है शरीर में कर्म के साधन भी हैं जीव से बोलना जीव से स्वाद लेना काम से सुनना जीव से बोलना हाथ से पकड़ना त्वचा से छूना आंख से देखना पांव से चलना तो कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों तरह के उपकरण दोनों तरह के औजार देखने जानने के लिए भी और करने के लिए भी दोनों तरह के औजार मनुष्य के शरीर में मिले हुए हैं तो मनुष्य का जो व्यावहारिक जीवन है उसमें कर्म और ज्ञान का समुच्चय है व्यावहारिक जीवन में यदि कोई ज्ञान ज्ञान ज्ञान बोलता है तो वो नशे में आ गया है वो अपने जीवन की ओर नहीं देखता है ठोस पदार्थ को नहीं देखता है और यदि जीवन में कोई कर्म ही कर्म कर्म ही कर्म कर्म ही कर्म देखता है तो मशीन हो गया है यंत्र हो गया है <clears throat> तो जहां कर्म और ज्ञान का समन्वय होकर के जीवन चलता है वहां मनुष्य का जीवन बिल्कुल ठीक रहता है तो अपने कर्तव्य कर्म को करो अपनी उपासना करो अपना योग करो अपना श्रवण मनन निधिध्यासन करो यत्र पार्थो धनुर्धरा धनुर्धारी होकर रहो तो वैसे वेदांत में धनुर्धारी होकर धरने का अर्थ होता है और क्या नाम है धनुर्गृहित उपनिषदम वास्त्रम सरम युपादांकितम संधयित तो प्रणव धनु सरो सरोह्यात्मा ब्रह्म संलक्ष्य मुच्यते उपनिषद धनुष है ओंकार धनुष है और आत्मा बाण है अप्रमत्ते न वेद द्रव्यम प्रमाद होकर लक्ष्य वेद करो परोपरा जीव को कैसा होना चाहिए कि अपना जो कर्तव्य कर्म रूप अपना जो भक्तिभाव रूप योगाभ्यास रूप श्रवण मनन निधि ध्यान रूप जो अपना धनुष बाण है उसको धारण करके बिल्कुल तैयार रहे ये ईश्वर का आश्रय हो और जीव का पौरुष हो दोनों का समन्वय चाहिए हो दोनों का समुच्चय चाहिए दोनों का समन्वय चाहिए ईश्वर पर छोड़ दोगे जो मोह जो तो करे मानो तुमको कोई गरज नहीं है ईश्वर कोई सारी गरज है हाँ एक ने कहा महाराज हमारे लिए क्या होगा जब ईश्वर की मर्जी होगी आके हमसे मिल जाएगा मैंने तुम्हारे कोई मर्जी नहीं है तुम्हारा तुम गर्जी नहीं हो ईश्वर की गरज तुमको नहीं है ईश्वर से मिलने की ईश्वर को ही तुमसे मिलने की जब गरज होगी तब आएगा और ऐसे जन्म समूह से रहने ऐसे अनेक जन्म ऐसे हजार जन्म बीत जाते हैं <clears throat> तुम व्याकुल तो बनो तो अपने साधन से सन्नत हमेशा धनुष्मान संपन्न तो जहां दोनों है पौरुष ये ईश्वर और जीव का मतभेद है शाश्वत ईश्वर कहता है तुम पौरुष करोगे तब मिलूंगा और जीव कहता है तुम कृपा करोगे तभी मैं मिल सकूंगा मेरे साधन में कोई बल नहीं है यदि ईश्वर अपने में कृपा का आरोप करे तो उसमें भी कृपालुता का अहम भाव हो जाएगा और जीवन जीव यदि अपने साधना का बल धारण करे तो उसमें भी साधना का अभिमान हो जाएगा इसलिए ईश्वर तो अपने को कृपालु नहीं मानता भक्त उसको कृपालु मानता है और भक्त अपने को पौरुष वाला नहीं मानता ईश्वर उसको पौरुष वाला मानता है उसको बनाता है इसलिए ये जो जीवन है ये ज्ञान और कर्म का ज्ञान और भक्ति का ज्ञान और योगाभ्यास का और ज्ञान और सव मनन निधिध्यासन का समन्वय है ये व्यक्तिगत जीवन एक साथ दोनों चले और अंत में जो लक्ष्य है अप्रम अप्रमत्ते नवेदव्यम सर्वतन्म भवे तो भगवान की ओर चलने का उपाय यह है कि हम तो निकम्मे न हों और भगवान की कृपा का अनुभव भी करते चले शिष्य ने कहा गुरु जी कृपा आपकी गुरु ने कहा नहीं बेटा साधन तुम्हारा कृपालुता का अभिमान गुरु में नहीं और अपने पौरुष का अभिमान शिष्य में नहीं और यदि वो पौरुष का अभिमान करेगा तो मारा जाएगा और वो यदि कृपालुता का अभिमान करेगा तो उसका व्यक्तित्व बन जाएगा व्यक्तित्व वाला ईश्वर हो जाएगा इसलिए परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति वहां आती हैं भगवती श्री जीवन में एक रौनक आ जाती है वो मुख पर एक विशेष प्रभा आ जाती है स्वयं विद्या बन के संपत्ति बन करके लक्ष्मी जी आके हृदय में निवास करती हैं माँ आती है प्रमा आती है शोभा आती है लक्ष्मी आती है तब श्री काम क्रोधादि शत्रुओं पर विजय होता है वैभव की प्राप्ति होती है वहां ध्रुव शाश्वत नीति आकर के रहती है संजय ने समग्र गीता का श्रवण करके ये निश्चय किया कि जीव को अपने पौरुष से कभी च्युत नहीं होना चाहिए और प्रेरणा निर्वाह और फल इन तीनों को ईश्वर की ओर से आता हुआ देखना चाहिए आप कोई काम करते हो देखो आपके हृदय में कितनी अंतर देखते है गीता भक्त को निकम्मा नहीं बताती है आप जानते हैं मत मत कर्म के कृंत मत कर्म कृण मत परमो मत भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु जमावेति तो भगवान के मत कर्म की पहली शर्त है आप जो काम करते हैं क्या सोच के करते हैं कि मेरे गांव के लिए कैसे हितकारी होगा हम थोड़े दिन पहले एक शहर में गए थे तो वहां के मेयर स्टेशन पर आए हमारी मोटर में बैठ के चले तो मैंने पूछा क्या हाल चाल है आपका शहर कैसा चल रहा है मेयर हैं तो बोले महाराज हमारे यहां जितने मेंबर हैं सब कहते हैं कि हमारी गली का पनाला ठीक हो जाना चाहिए और वहां नल लग जाना चाहिए पूरे शहर की दृष्टि से कोई कभी बात करता ही नहीं है बस वो पूरे नगर को अपना नहीं समझते हैं अपने घर की नारी को अपनी समझते हैं ये ये उन्होंने बताया मेयर से अपने शहर की ये हालत बताई तो भाई आप कर्म करते हैं तो अपने घर की प्रणाली ठीक करने के नाली ठीक करने के लिए हैं या वहां नल लगवाने के लिए सोचते हैं कि सारे नगर को सारे प्रांत को सारे राष्ट्र को नहीं संपूर्ण विश्व को संपूर्ण विश्व में स्वच्छता हो सबको पानी के लिए पीने के लिए पानी मिले और सबको रोशनी मिले इस दृष्टि से आप विचार करते हैं कि अपने घर घरौदे में अपने घर घरौदे में फंसे हुए हैं तो मत कर्म कृत का अर्थ हुआ ईश्वर है सर्वरूप अर्जुन ने पहचान लिया विराट रूप देखने का यही अर्थ होता है जसोदा मैया ने विराट रूप दो बार देखा अर्जुन ने एक बार देखा धृतराष्ट्र ने एक बार देखा उत्तंक ने एक बार देखा भी कृष्ण पर बहुत उत्तंक को भ्रम था बड़ी डांटा क्रोध में आ गए श्री कृष्ण के ऊपर और तो उनके ऋषि हैं बाबा उनके क्रोध का निवारण करने रोकने के लिए विराट रूप दिखा दिया और कौरव लोग तो उनको बांधना चाहते थे वो अंधे धृतराष्ट्र को आंख दे दी कि देख ले हमारा विराट रूप अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे दी कि देख ले हमारा विराट रूप और जसोदा भैया को विराट रूप देखो भगवान का ये विराट रूप तब आपके कर्म का दृष्टिकोण क्या हो जाएगा गीता आपके कर्म के दृष्टिकोण को बदलती है आप व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं समग्र विराट के सुख के लिए समग्र विराट की शांति के लिए समग्र विराट के स्वास्थ्य के लिए आप जब कोई काम करो इसका अर्थ ये हुआ कि आप जब कोई काम करो तो इस पर ध्यान रखो कि ये जो सबका अंतरात्मा परमात्मा है उसकी प्रसन्नता के लिए हम काम कर रहे हैं कि केवल अपने अंतकरण के सुख स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं अब कोई कहे कि बाबा हम ऐसा कैसे देख सकते हैं कि दुनिया में इससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है किसी का हित तो नहीं हो रहा है कैसे देख सकते हैं जी आप ये देखिए मत ये देखिए कि आपके मन में किसी को नुकसान पहुंचाने की नियत तो नहीं है आप अपने अंतकरण को हाँ, सारी दुनिया को तो नहीं देख सकते लेकिन आप अपने अंतकरण को तो देख सकते हैं ना तो आप ईश्वर के हैं नारायण के नर हैं नारायण माने जो नर के हृदय में रहे नरस्य इदम नारम हृदय तदेव अयनम जस्य असौ नारायण नर के हृदय का नाम है नार और उस नार में अर्थात नर के हृदय में जो निवास करता है उसका नाम होता है नारायण आप अपने हृदय में रहने वाले नारायण की ओर देखिए कहीं वे तो नाराज नहीं हो रहे हैं मनु जी ने बहुत बढ़िया लिखा मनुस्मृति में कहा आत्मा वैवस्व को नाम सर्वेशा हृदय स्थिति तेन चेद अभिवादस्ते माँ गंगा माकुरु बाबा तुम्हारे हृदय में धर्मराज बैठे हुए हैं तुम जब अपनी नजर में चोर बन जाते हो तुमने चोरी की और स्वीकार करते हो मन में हाँ हमने चोरी तो कर बहुत बढ़िया की हाँ, चोरी करके खुश होते हो अनाचार करके खुश होते हो व्यविचार करके खुश होते हो बेईमानी करके खुश होते हो है? हाँ। तो तुम अपने आत्मा के साथ एक विवाद ठान लेते हो यदि आत्मा के साथ तुम्हारा मतभेद नहीं है तो गंगा हाँ, गंगा और कुरुक्षेत्र की कोई जरूरत और यदि तुम अपनी नजर में अपने को नीचा के नीचा गिरा रहे दुनिया तुमको समझते बहुत ऊंचे बहुत ऊंचे बहुत ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं और अपनी नजर में तुम गलत काम करके आ, अपनी नजर में नीचे गिर रहे हो तो तुमको कौन उठा रहे इसी से मनुस्मृति ने बड़ा बढ़िया कर्म का निर्णय किया हो यद कर्म पूर्वतोष्य परितोषोतरात्मन तत्प्रयत्न कुरीत विपरीतम तो भर्जयेत ईश्वर मेरे ऊपर प्रसन्न है कि तुम ईमानदारी से देखो कि तुम अपने काम को करके प्रसन्न होते हो कि नहीं यदि तुम्हारी नजर में वो काम बिल्कुल ठीक है तो तुम्हें प्रसाद मिलेगा प्रसन्नता मिलेगी और तुम्हारे अंतकरण में बैठ करके ईश्वर भी ईश्वर भी प्रसन्न होगा ईश्वर ने अपनी प्रसन्नता के लिए कोई घर नहीं बनाया कोई लोक नहीं बनाया कोई कुटिया नहीं बनाई उसने तो तुम्हारे अंतकरण को ही अपनी कुटिया बना के अपनी कुटिया बना के रखा है और वहीं जब तुम प्रसन्न होते हो तब वो प्रसन्न होता है और जब तुम गिलानी करते हो तो उसको भी गिलानी भोगनी पड़ती है इसलिए अपने कर्म का निश्चय करने के लिए कर्तव्य का निश्चय करने के लिए मत कर्म करो ईश्वर के लिए कर्म करो ईश्वर की भक्ति करो देखो ऐसा ज्ञान का प्रकाश होगा ईश्वर की भक्ति हृदय में आते ही अनंत ज्ञान का प्रकाश हृदय में हो जाएगा ऐसी बुद्धि स्वच्छ होगी निर्मल होगी कि सब आपको अपने आप ही सूझने लग जाएगा

विश्वक्रमा विक्रमाः सन्तन्ते सकलाकलामरुतरम् यस्मिन्

शास्त्रम शास्त्रम देवती पुत्री एक ही शास्त्र है जिसका देवती नंदन भगवान सर्वशास्त्र में ही गीता गीता में आनंद में भरकर उल्लास में भरकर अपने मित्र के हित भाव से भरकर लोगों के कल्याण के लिए भगवान अर्जुनों में तरफ से उनको तो कोई बहाना चाहिए किसी बहाने से अपने हृदय की जो करुणा है ज्ञान है प्रेम है उसको लोगों के ऊपर बरस जैसे गाय कचरे को निमित्त बनाकर दूध देती है दूध केवल कचरे के लिए नहीं होता सबके लिए होता कैसे भगवान श्री कृष्ण केवल अर्जुन के लिए नहीं सबके हित के लिए गीता का उपयोग कर उपनिषदों में आता है जदेव हिततम सदैव में रोगी जो हितम है वही हमको बताया हुआ भाई अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना हित भाव प्रकट कर वेदांती लोग जो ज्ञान भक्ति का समन्वय करते हैं उसका प्रकार युवा दूसरा है आत्मा ब्रह्म है इसको न जानना अज्ञान है और आत्मा ब्रह्मी है ये जानना ज्ञान है तो इस ज्ञान के साथ जितने भी समन्वय होते हैं पहले कर्म योग कर फिर भक्ति योग कर फिर अष्टांग योग कर समन्वय माने अंतकरण शुद्धि के लिए कर्म भक्ति और योग और शुद्ध अंतकरण में तत्व ज्ञान ये वेदांतियों की प्रक्रिया है ब्रह्म ज्ञान के लिए परंतु जिज्ञासु बहुत थोड़े और वेदांत का उद्देश्य जो सचमुच तत्व को जानना चाहता है उसके लिए हमारे व्यवहार में समन्वय का भक्ति और ज्ञान का समन्वय अर्थात बुद्धि और मन का व्यवहार में मन में भक्ति रहती है और बुद्धि में ज्ञान रहता है तो हमारा ये जो जीवन है थोड़ा समझने की वस्तु है आपके जीवन में हमारे जीवन में मन और बुद्धि दोनों मिले रहते हैं कि दोनों में आपस में लड़ाई होती है और यदि दोनों मिले रहते हैं तो बुद्धि मन के साथ मिलती है कि मन बुद्धि के साथ मिलता है एक जीवन का ज्वलंत प्रश्न है एक सज्जन पत्रकार रहे थे दुख प्रकट कर रहे थे कि हमारे घर में रोज हमारी पत्नी से लड़ाई रहती है दूसरे ने कहा कि हमारे तो जब से ब्याह हुआ तब से अब तक पच्चीस वर्ष हो गए कभी पति पत्नी में लड़ाई हुई नहीं उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारे पास ऐसी क्या युक्ति है कि पति पत्नी में लड़ाई नहीं हुई तो बोले कि वो जो कहती है तो मैं मानता हूँ आज्ञा हमारी पत्नी देती है और उसका पालन मैं करता हूँ हमारे उसके कभी लड़ाई नहीं तो अब आप अपने जीवन में देखते हैं कि पहले मन चलता है फिर उसके पीछे बुद्धि चलते हैं पहले बुद्धि चलती है और उसके पीछे न चलता है समन्वय हमारे दोनों में मेल मिलाप कराओ भागवत में से एक व्यक्ति के कारण एक राजा ने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और उनकी करके जब आया आपने घर में तो पत्नी ने पूछा कि अरे ओ कपटी मेरी जगह पर ये कौन लड़की बैठी है तो बोला है तुम्हारी पुत्र बधु वो तो बोली कि हमारे तो पुत्र ही नहीं है तो पुत्र बधु कहां से होगी तो उन्होंने कहा कि आगे जो तुम्हारे पुत्र होगा उसके साथ विवाह भागवत में तो टीकाकार लिखते हैं कि इतना बड़ा पत्नी भक्त सृष्टि में और कोई दूसरा नहीं हुआ है तो देवता लोगों ने कहा कि भाई देखो कोई अपना पत्नी भक्त हो तो ऐसा हो तो आओ इसकी बात पूरी कर दें तो उसको पुत्र दे दिया और पुत्र को जवान बना दिया ये नौ स्कंद में भागवत के दैतिया का प्रसंग है तो अपने मन में भी आप देखें कि आपके जीवन में कौन आगे और कौन पीछे वैसे जब खबर पड़ती है ना विवाह में तो सात परिक्रमा होती है यानी उसमें चार परिक्रमाओं में स्त्री आगे आगे चलती है पशु आगे आगे और तीन परिक्रमा में पुरुष आगे आगे चलता है उस साथ में से चार पत्नी की चार पत्नी की अगुवाई में होती है और तीन पुरुष की अगुवाई में वोट स्त्री का ही ज्यादा रहता है <laughs> तो ये विवाह की पद्धति है हमारे जीवन में क्या होता है कि हम जैसे कहीं बाजार में जाते हैं तो आपने देखा कि ये बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए जा रहे हैं इनकी मोटर बहुत अच्छी है इनकी घड़ी बहुत अच्छी है तो पहले देखती है आप फिर मन में इच्छा होती है ये हमको मिलनी चाहिए रखा तो फिर कैसे मिले पैसा हो तो खरीद ले और न हो तो कहीं से चोरी नहीं माने से पैसा पैदा करें और जैसे तैसे इसको प्राप्त करें तो जब आगे आगे हमारे इंद्रिय चलते हैं और इंद्रियों के पीछे मन चलता है और मन के पीछे बुद्धि चलती है तो ये कहा ले जाते हैं वायु नाव में वाम करते गीता का कहना है कि इंद्रिया चलता जन मनोन विधि है समन्वय की बात आपको सदस्य हरतिक प्रज्ञा दुख प्रक्रिया होती है गया ज्ञान ज्ञान कहाँ गया तो मन में गया मन कहाँ गया इंद्रियों में गया इंद्रिय इंद्रिया कहाँ गई तो कर देना तो समन्वय की प्रक्रिया क्या है आपका जो आचरण हो वो बुद्धि संगत पहले आपके मन में ज्ञान और ज्ञान के अनुसार संकल्प हो और संकल्प के अनुसार क्रिया हो जानाति इच्छति करो पहले हम किसी बात को जानते हैं समझते हैं पहले समझ लीजिए समझने के बाद ये देखिए कि वो चाहने योग्य है कि छुपाने योग्य है कि छोड़ने योग्य है बुद्धि से पहले ये निश्चय कर दीजिए छोड़ना हो तो छोड़ दीजिए और पाने लायक हो तो उसके पाने का संकल्प कीजिए और संकल्प के बाद प्रयत्न कीजिए उसके पाने जाना भी इच्छति करो ये हमारे न्याय शास्त्र का न्याय शास्त्र का की प्रक्रिया है उसकी शैली है उसका ढंग है कि पहले हमारी बुद्धि कहे ज्ञान कहे कि ये ठीक है फिर उसके लिए इच्छा हो और इच्छा के अनुसार प्रयत्न हो तो इस बात को जब हम भूल जाते हैं इंद्रियों की आंख से चलते हैं बुद्धि की आंख से नहीं चलते तब इंद्रिया को अंधी है बाबा और उनके पीछे मन चला बिना सोचे विचारे जो बुद्धि चली बुद्धि के पीछे आप चले तो गीता का कहना है कि आपके इंद्रियों में मन में और बुद्धि में तीन जगह काम कार्य बाधित आप गीता में पढ़ो इंद्रियाण मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान बुद्धते ज्ञान आवृत्य देना एक आदमी के पास रथ रथ घोड़े बहुत अच्छे ठाकुर बहुत अच्छे रथ बहुत अच्छे सारथी बहुत अच्छे निश्चय था कि जब ये सारथी रहे ये बागडोर रहे ये घोड़े रहे ये रथ रहे तो ये शत्रु पर अवश्य विजय प्राप्त कर देगा लेकिन शत्रु ने क्या किया कि उसने उसके उसके हाथ छिप करके सही का काम कर लिया सही बन गया घोड़े घोड़ों की सेवा कर रहे वो अपने हाथ से घोड़ों को खिलावे पिलावे कुछ कार्य और धीरे धीरे जो घोड़ों की बारकोट थी उसको कमजोर कर दी उसने और सारथी को घूस देकर अपने पक्ष में मिला लिया अब जब वो शत्रु विजय प्राप्त करने के लिए चले तो घोड़ा उनके हाथे हटे नहीं बागडोर तो उनके पीछे खींचे नहीं और सारथी को कहे कि इधर ले करो तो उधर कर दे तो जिसके रथ के सारथी घोड़े बागडोर दुश्मन के हाथ में चले गए वो इस संसार संगर में संसार संग्राम में संसार समर में विजय कैसे प्राप्त करेगा तो काम रूप शत्रु ने क्या किया कि पहले लोगों की इंद्रियों को और लगाम को घोड़ों के भागों को और सारथी को अपने बस में कर तब बोले फिर तो जहां शत्रु की मौज है वहां आपकी सवारी चली जाएगी आपका रथ वहां चला जाएगा एक मुस्लिम नेता थे हमारे देश के वो अपनी मोटर में हिंदू ड्राइवर कर ले हमको सच्ची सच्ची जानकारी दे रहा हूं सच्ची जानकारी एक बार औरंगजेब को हाथी पर बैठाया गया उसने कहा इसकी लगाम हमारे हाथ में दे दो विद्वान ने बताया कि हाथी के लगाम नहीं लगाई जाती है जो तो ये हमको सिद्ध करता है उसने कहा अच्छा जिसकी लगाम अपने पास नहीं है सब कुछ सवाल मैं इस हाथी पर मैं नहीं बैठूंगा जिसकी लगाम अपने हाथ में न हो ऐसे रथ पर क्या बैठना क्या पता है हाथी कब बिगड़ जाए हम तो जिस रथ पर बैठते हैं उसकी लगाम हमारे हाथ में चाहिए आप अपनी इंद्रियों को कहीं जाने से रोक पाते हैं कि नहीं अपने मन को किसी संकल्प से मुक्त कर लेते हैं कि नहीं आपकी बुद्धि इंद्रियों की मांग और मन की आसक्ति से बचकर आपके जीवन के सत्यों का सत्यों का विवेचन कर सकती है कि नहीं तो जीवन की सफलता कहां है अब आप बुद्धि को आगे आगे करें और मन को रागत द्वेश वियुक्तु विषयानिंद्रियश्चरम आत्मवश्येन विधेयात्मा प्रसादमधिगछति प्रसादे सर्वदुःखानाम रस्योपजाते संकेतको ज्ञासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्त न युक्त भावना न भावत शांति अशांत सुखा आप सुख शांति प्राप्त करना चाहते हो तो आपके जीवन की शैली ऐसी होनी उसमें बुद्धि आगे हो और आसक्ति पीछे हो विधेयात्मा आपकी इंद्रियां आपका मन आपकी आज्ञा मानता है कि नहीं आपका आपका सेवक आपका आज्ञाकारी है कि नहीं वो कहीं लड़ तो नहीं बैठता कि आप हमारे हमारे कह अनुसार चलिए विधे आत्मा पहली बात है कि मन हमारा आज्ञाकारी होना चाहिए जब हम हाथ को कहते हैं कि हे बात और छाती को बैठ जब तक हम न हटा रहे तब तक हाथ न रहे ऐसा हाथ होना चाहिए श्री हरि बाबा जी महाराज को हमने देखा ठीक समय पर संभलने के लिए निकलते थे एक हाथ ऐसे छाती पर रखते और पांच मील चलने के बाद जब लौटते तो उनका हाथ यही होता रास्ते में दाहिने बाएं नहीं देखते थे आगे आगे जो आदमी चलता उसके पीछे चलते जाते मन को आज्ञाकारी होना चाहिए हमें मन का आज्ञाकारी नहीं होना चाहिए ये समन्वय हुआ बुद्धि के पीछे अन्वय माने अनुगति और सम माने सम्यक अनुगति अन्वय माने अनुगति अय माने गति अनु लग जाने से अनुगति और सम माने सम्यक अनुगति आनुगत्य आनुगत्य करें बुद्धि के पीछे मन चले गृह आत्मा पहले दो ये ठीक है कि नहीं असल में हमारा पक्षपात जो मन के प्रति बहुत ज्यादा है इसने हमारे जीवन को ये एक एक प्रश्न देखो आपके जीवन में हमारे जीवन में हम जानते हैं कि सत्य बोध नहीं उचित है हर कर्तव्य करने का शोध परमात्मा को प्रसन्न करने वाला है अच्छा जी तो बुद्धि तो ये समझती है कि सत्य बोलना ठीक है फिर हम असत्य क्यों बोलते तो हमारा मन कहता है कि तुम तो ठीक रहे हो कि सत्य ही धर्म है और सत्य ही सन्मार्ग है और सत्य से ही परमात्मा प्रसन्न होता है सत्य से ही अंतकरण शुद्ध होता है तुम समझते हो सो तो ठीक लेकिन यहां यदि तुम सत्य बोलोगे तो तुमको भोग देने वाला पैसा नहीं मिलेगा तुम्हारे भोग में रुकावट डालने वाला दुश्मन नहीं बनेगा तब तक तो तुम्हारे सुख में बाधा पड़ जाएगी तो मन देता है सुख की लालच और फिर हम बुद्धि का साथ छोड़कर मन की ओर चल पड़ते हैं हमारी बुद्धि को मालूम है सुख ब्रह्मचर्य में है पर हम ब्रह्मचर्य भंग कब करते हैं जब हमारा मन कहता है कि यहाँ ब्रह्मचर्य भंग करने से सुख होगा हम कि ईमानदारी सच्ची चीज है बढ़िया चीज है परंतु जब मन कहता है कि यहाँ बेईमानी करने से सुख मिलेगा तब तो हम बेईमानी के पक्ष में हो जाते तो हमारे मन में सत्य का पक्षपात कम है और सुख का पक्षपात ज्यादा है अर्थात हम अपनी जानकारी का तिरस्कार करते हैं और हम अपने मन की आसक्ति का आदर करते हैं हम ज्ञान के पक्ष में नहीं जाते हैं सुख के पक्ष में चले जाते हैं तो एक होती है वासना और एक होता है विचार हमारा जीवन वासना के पक्ष में चल रहा है कि विचार के पक्ष में चल रहा है इन दोनों में झगड़ा नहीं होना चाहिए विचार के अनुसार जीवन चले जब तक सुख संसार बेईमानी की ओर खींचेगा सुख व्यवचार की ओर खींचेगा और सुख हिंसा की ओर खींचेगा और सुख झूठ की ओर खींचेगा तब तक हमारी बुद्धि डावाडोल होती रहेगी रागद्वेशयुक्त इसको ये देखो व्यवहार में विचार का और आसक्ति का विचार का और मन का कैसे समन्वय होना चाहिए देखो हम गुरु की अवज्ञा करके मनमानी काम कर रहे हैं शास्त्र की अवज्ञा करके भी हम मनमाना काम कर रहे हैं संप्रदाय की अवज्ञा करके गुरुजनों को धक्का बता के अपने आदरणीय से छिपाकर हम बुरे काम कर रहे हैं ये हमारे जीवन में कहां से आए इसका ये है कि हम मन के वश में हो गए और बुद्धि का तिरस्कार हो गए ज्ञान का तिरस्कार ये ज्ञान देवता ऐसे हैं महाराज इनका स्वभाव ऐसा है समय पर ये आपको रोशनी देंगे प्रकाश देंगे बताएंगे कि है लेकिन जब बार बार वो बतावेंगे और बार बार आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो अपने तिरस्कार का अनुभव है और वो फिर सच्चा रास्ता बताना पड़ता है फिर तो आप बहुत आसक्ति के रास्ते में भटक जाएंगे तो हमारा मन अनुसार होना चाहिए हम पहले भगवान के स्वरूप को समझे और मन से उनसे प्रेम करें हम बुद्धि से धर्म को समझे और फिर मन से श्रद्धापूर्वक उसका अनुष्ठान हम बुद्धि से समाधि को पहले समझें और फिर अभ्यास के द्वारा समाधि उत्पन्न करें हम पहले ब्रह्म और आत्मा का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करें और उसमें निष्ठावान हो जाए तो विचार के बिना ज्ञान के बिना जो हमारी अंधाबुंद प्रवृत्ति है ये दुख देने वाली है और एक बात और ज्ञान का पुरस्कार नहीं हो और एक बात पर ध्यान और देने का है तो ये देने का है कि ये जो हमारी बुद्धि है ये सही है कि गलत ये तौर है बुद्धि का भी माप है हमको एक महापुरुष ने बचपन में ऐसा बताया तुम ये देखो कि तुम्हारी बुद्धि पौरुष का पक्ष ले रही है कि आलस्य का तो यदि आलस्य के पक्ष में तुम्हारी बुद्धि जा रही है तो नहीं हो जाएगी तुम्हारी बुद्धि सदाचार के पक्ष में जा रही है कि अनाचार जो भी अनाचार के पक्ष में जा रही है वो तुमको धोखा दे रही है अनाचार को अनाचार में कभी सच्चा सुख कभी सत्य का साक्षात्कार नहीं होता बिल्कुल अलग चीज